अनोशो टॉक अनंत की पुकार नंबर एट का क्या मूल्य है हाँ? हाँ? जीवन का कोई भी मूल्य नहीं दर्शन का ही मूल्य है हाँ? <laughs> आपने एक बात बताया कि जीवन की भावना नहीं चाहिए तो क्या लिखना बोल क्या बताना है मैं आपको प्रश्न पूछ अच्छा पूछ प्रश्न पूछ आपका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ उन्नीस सौ तीस गाडरवाड़ा गाडरवाड़ा माता पिता हाँ तो तो वो लोग थे वो जैन थे वो जैन पारंपरिक देन वो जैन है लेकिन मैं जैन नहीं ये ख्याल रखना नहीं तो, जो गलती हो जाए क्योंकि जन्म से धर्म का कोई संबंध नहीं माता पिता में से किसके आप पर ज्यादा असर है आपको कोई किसी की भी नहीं असर किसी की भी नहीं और असर में मानता भी नहीं कि किसी की किसी को होनी चाहिए हम्म? मेरी समझ ये है कि हर आदमी को अपने जैसा होना चाहिए न किसी से प्रभावित होना चाहिए न किसी की असर लेनी चाहिए और न किसी को असर में डालना चाहिए काला जीवन में कुछ प्रसंग नहीं सकता बहुत प्रसन्न है यादगार से तो हम्म, बचपन से प्रसन्न ही प्रसन्न है वुमेन का लेडीज का ये है मेडिकल मतलब। कोई ज़्यादा वेग मिला हो ऐसा कोई हो या तो आप पर ज़्यादा अभी तक याद रहे ऐसा कोई <laughs> जैसा आपने काम बताया था वो के रुपये छोड़ दिए तो तीस साल तक याद रहा <laughs> हाँ ऐसा कोई बताना पड़ा तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं बड़ा मुश्किल है हाँ। हाँ। पहली बात तो यही है परिवार की परंपरा या समाज की शिक्षा या गुरुजनों के उपदेश किसी पर मुझे कभी कोई आस्था नहीं अनास्था जो प्रारंभ किए और अविश्वास और संदेह जैसे मुझे मंदिर ले जाया गया तो मैंने कहा कि मुझे कोई भगवान दिखाई नहीं पड़ मुझे तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है आपको तो भगवान दिखाई पड़ते हैं तो आप सिर्फ झुकाएं मैं झुकाने को तब तक राजी नहीं जब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ता और फिर तब से मैं मंदिर नहीं जाता तो बहुत की बात होगी कोई आठ नौ साल किसी भी चीज में तर्क युक्तता हो तो ही मुझे उसमें अर्थ मालूम हो हमारे स्कूल में प्रेमचंद आए टोपी लगाना लाजमी मैं टोपी लगा के नहीं गया स्कूल हाई स्कूल में गया तो बिना टोपी लगाया गया वो जो हेडमास्टर जो थे वो बहुत सख्त थे टोपी के लिए ये संभव ही नहीं था कि बिना टोपी लगाए कोई स्कूल में प्रवेश हो जाए तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको कहा कि मैं टोपी जरूर लगाऊं और एक नहीं दस टोपी इकट्ठी लगाऊं लेकिन वजह मुझे समझा दी जाए टोपी लगाने से क्या हित होगा मेरा और नई वजह समझाई जाए तो फिर मुझसे कहना भी नहीं चाहिए आपको आप सोच लें और मुझे समझा दें और जिस दिन भी आप समझाने को राजी हो जाएंगे कि टोपी लगाने के ये फायदे और हित हैं शरीर को मन को आत्मा को किसी को भी तो मैं लगाने को राजी नहीं तो मैं लगाने को राजी नहीं सिर्फ आपका नियम है इसलिए नहीं लगाऊंगा टोपी तो नहीं लगाई और उसके लिए मैं दो महीने बाहर खड़ा रखा उन्होंने तो फिर बाहर खड़े रहा मैं बाहर पूरे तीन साल पढ़ना है स्कूल को मैं बाहर खिड़की के खड़े होकर पढ़ लूंगा लेकिन ऐसी बात के लिए नहीं झुकूंगा जिसके लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है दो महीने बाद उनको दया आ गई उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ माफी मांगता हूँ तुम भीतर बैठो और पढ़ो लगाना हो लगाओ मत लगाना हो मत लगाओ तो एक किसी भी चीज के बाबत जब तक मेरा पूरी बुद्धि तृप्त न हो तब तक मानने का मेरा कोई मन नहीं किसी की बात है जीवन में कोई शिक्षक के बारे में आपको ज्यादा दिलचस्पी या तो कोई जिसके पर मान हो मतलब नहीं दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता ना नहीं दिखाई अच्छा, कॉलेज में कॉलेज घटनाएं तो बहुत घटी हैं तेरे मतलब कि क्या है ये सवाल है मुझे तो कॉलेज से पहले तो इंटरमीडिएट में मुझे रेस्टिकेट कर दिया गया इंटरमीडिएट में मुझे निकाल दिया गया कॉलेज कॉलेज से निकाल कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे जो तर्क के प्रोफेसर थे उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गई मेरी मौजूदगी थी तर्क तर्क का ही विषय था ना तो तुम तो निरंतर उनसे तर्क हो जाते हाँ। आठ महीने के बाद उन्होंने लिख के दे दिया कि या तो मैं रहूंगा कॉलेज में या ये विद्यार्थी रहे दोनों साथ नहीं रहते क्लास में राजी नहीं आपको रखने के लिए तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि भाई हम उनको तो छोड़ नहीं सकते हमारे 20 साल पुराने प्रोफेसर हैं और अच्छा। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अखिल भारतीय ख्याति के आदमी हाँ। उनको तो हम छोड़ नहीं सकते तो मैंने कहा कि मैं जाने को राजी हूं लेकिन मुझे ये कह दिया जाए कि मेरी गलती क्या है और जिन चीजों पर मैंने विवाद भी किया है उन चीजों पर भी अगर वो कह दें कि मैं गलत था तो भी मैं छोड़ने को राजी हूं लेकिन जबरदस्ती आप मुझे निकालते हो तो आप बताएंगे इस बात के लिए कभी मैं कभी तो दुखी होंगे लेकिन वो घर ही बैठ गए तीन दिन नहीं आए प्रोफेसर तो फिर मुझे उस कॉलेज से निकाल दिया गया मुझे दूसरे कॉलेज में जगह दी गई तो इस शर्त पर मुझसे लिखवा लिया गया कि मैं किसी कक्षा में किसी प्रोफेसर से कोई प्रश्न नहीं पूछू प्रश्न नहीं पूछूंगा तो मेरे जिस दूसरे कॉलेज में मैं मुझे जगह दी प्रिंसिपल ने उसने शर्त लिखवा के दी क्योंकि वो तो सारे नगर में चर्चा हो गई कि निकाल, निकाल दिए गए हैं और इस वजह से निकाले गए हैं कि तो मैंने उनको कहा कि फिर मैं भी एक शर्त पर नाम लिखवा लेता हूं आपके कॉलेज में कि मैं क्लास में नहीं आऊंगा क्योंकि अगर मैं पूछ नहीं सकता हूं तो मेरे मौजूद होने की कोई जरूरत भी नहीं तो आप मुझे अटेंडेंस देते रहेंगे उन्होंने कहा ये हो जाए तो मैं दो साल गया नहीं सर कॉलेज क्योंकि मैं जब मैं पूछ ही नहीं सकता तो सुनने की भी कोई जरूरत नहीं और जब मैं सुनूंगा तो पूछना बहुत जरूरी हो जाएगा तो वो उन दो साल मुझे अटेंडेंस दी मैं कॉलेज गया नहीं अटेंडेंस दी और तो, तो बहुत है वो तो सब लंबा सिलसिला था तर्क का विवाद का क्योंकि वो मुझे कोई चीज नहीं ठीक लगती है तो फिर तो, तो बहुत कठिन हाँ। मामला हो जाता है प्रोफेसर बोलते हैं उसके लिए मानने तो मानने के कोई राजी किसी का जीवन का अच्छा लगा हो कॉलेज में कोई अध्यापक ऐसा हो कि जो मानता है कि नहीं आपकी अच्छी थी या तो आपको दिया वो हाँ, हाँ, मिले हाँ। कुछ कुछ हम्म, जरूर थे जरूर थे एम में मुझे अच्छे क्योंकि मैं जबलपुर छोड़ दिया फिर क्योंकि जबलपुर में एम मुझे फिर जगह नहीं मिल सकती थी तो उसके लिए मैं सागर यूनिवर्सिटी में एम किया वहाँ मुझे प्रोफेसर चार थे मेरे चारों ही बड़े आदमी लोग अच्छे लोग थे वही मुझे ले गए हाँ मेरे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक एक अखिल भारतीय कंपटीशन में बोलने गया एक विवाद में वहां मेरे एक जज थे प्रोफेसर उन्होंने मुझे सौ में से निन्यानवे में मार और वो सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम सागर आ जाओ तो मैं सागर गया उनकी वजह से सागर मुन्ना जो वाइस चांसलर थे सागर यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर मुझे वाइस चांसलर से मिलाने ले गए और उन्होंने लिख के दिया वाइस चांसलर को कि ऐसा विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में न पहले आया है ना आना संभव है जल्दी इसलिए आपका मिलना जरूरी है तो वो मुझे मिलाने ले गए और उनकी इच्छा थी कि मुझे कोई स्कॉलरशिप और ये सारी व्यवस्था हो तो उन दोनों में खड़ाऊ पहनता था तो खड़ाऊं देख के वाइस चांसलर ने मुझसे कहा कि आप खड़ाऊ पहनते हैं और एम में पढ़ते हैं और ये लुंगी लगाते हैं तो वो जो प्रश्न मुझे ले गए थे उन्होंने टाइम का कुछ प्राकृतिक जीवन पर आग्रह तो कुछ प्राकृतिक जीवन पर उनसे कुछ विवाद हो गया तो वो वाइस चांसलर कुछ विरोधी थे प्राकृतिक जीवन वगैरह की बातों के कुछ साइंटिफिक माइंड के आदमी के ये सब तो वो विवाद इतना हो गया कि वो जो प्रोफेसर मुझे लेके गए थे वो डरे कि स्कॉलरशिप वगैरह तो दूर हो गई है तो मामला बिगड़ जाएगा तो वो मेरा कपड़ा नीचे से खींचने लगे तो मैंने उनको वाइस चांसलर को कहा कि ये जो प्रोफेसर मुझे लेके आए हैं वो मेरा कपड़ा खींचते हैं नीचे से वो ये इशारा कर रहे हैं कि अगर मैंने आपसे विवाद किया तो ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिल सकेगी लेकिन इतना बुरा आदमी मैं आपको नहीं समझ सकता उन्होंने बात ही नहीं की वो स्कॉलरशिप मुझे लिख के दिया और कहा कि वो प्रोफेसर तो बेचारे पसीना पसीना हो गए कि मैं उनका कपड़ा मेरा खींचते और बाहर आकर बोले तुमने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं वो क्या सोचते होंगे मैंने कहा मुझे कह देना जरूरी था क्योंकि आप कपड़ा खींचे जाते हैं वो विवाद किए जाते हैं अब मैं उसमें बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि उन्होंने पर दो वर्ष उन्होंने मुझे जितनी सुविधाएं हो सकती थी वाइस चांसलर ने दी उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत खुश हुआ कि जब तुम अपने काम से आए हुए थे तब भी तुम विवाद कर सके और जरा भी तुमने विवाद में उदारता नहीं दिखाई कि तुम जरा भी समझौते के लिए राजी हुए हो कि जबकि तुम्हारा काम, काम था, था। काम की तुम्हें मेरी खुशामद करनी चाहिए थी वो हाँ। तुमने इतनी खुशामद तो बात दूर रही तुम मुझसे विवाद करने को तैयार हो गए और तुमने मेरी बातों को ऐसी उससे खंडन किया कि, कि मैं हैरान रह गया मैं तुम्हें सारी सारी व्यवस्था जब तक ना हूं यहाँ सारी सुविधा मुझे थी बहुत सुविधा मुझे तो ये जो प्रोफेसर मुझे ले गए थे वो बड़े प्यारे आदमी हैं बड़े प्यारे आदमी अभी वो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अलाहाबाद अभी मैं गया तो professor Rai S S Rai philosophy के रीडर हैं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और फिर मुझे डॉक्टर सक्सेना मिले वो अब हवाई में अमरीका में वहां प्रोफेसर है उन्होंने भी मेरी बड़ी फिक्र ली बड़ी फिक्र ली यहां तक कि परीक्षा का उन्हें विश्वास नहीं रहा कभी मैं परीक्षा दूंगा कि नहीं दूंगा हाँ। तो यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो तो वो मेरे हॉस्टल के बाहर सुबह गाड़ी लेकर खड़े हो जाएंगे सात बजे साढ़े सात बजे तो मैं हाल में छोड़ा हूँ एग्जामिनेशन हाँ। हाल में हाँ। फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँ तो मुझे रोज नींद में जब परीक्षा हो तो मुझे वो हाल में छोड़ा है तब वो निश्चिंत उनको कहा भी कहा मित्र क्यों घबराते हैं उनका तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तुम पढ़ रहे हो यही हैरानी की बात है तुम परीक्षा दोगे ये भी मुश्किल की बात तो वो मुझे दो वर्ष उन्होंने इतनी फिक्र ली मेरी जिसका कोई कोई अच्छा, आपकी जो हेतु है मैं एक नाजुक हाँ, बिल्कुल ना बिल्कुल ना आप भी अभी आश्रम बनाने के लिए <laughs> तत्पर हो गए हैं तो उसका हेतु तो यही है कि मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहिए तो फिर कॉलेज के अध्यापन में भी वही काम था तो वो आपने क्यों छोड़ दिया इसलिए नहीं छोड़ा कि वो काम बुरा था इसलिए छोड़ा कि बहुत छोटा काम था और बड़ा काम मैं कर सकता हूँ उसको छोड़ यानी उसको इसलिए नहीं छोड़ा कि वो बुरा था नहीं, मेरी उतनी ही शक्ति से बहुत बड़ा काम हो सकता है तो उस शक्ति को छोटे से दस पंद्रह विद्यार्थियों पर व्यय करना उचित नहीं था और उन विद्यार्थियों को तब भी मैं समय दे रहा हूं मैं शर्त पर ही छोड़ा कॉलेज उन लड़कों ने मुझसे शर्त ली जो मेरे विद्यार्थी अच्छा। कि जब भी आप जबलपुर होंगे तो हम जब भी समय चाहेंगे हमको समय देनी पड़ेगा उतने समय में उनको पहले भी नहीं दे पाता जितना आप वो मेरा ले लेते तो उनकी तो शर्त पर ही छोड़ा और सवाल तो ये हो गया था कि मैं अब फिलोसफी में कभी दो विद्यार्थी होते हैं कभी तीन विद्यार्थी होते तीन विद्यार्थियों के लिए मैं दो साल व्यय करूं तो ये तो क्रिमिनल वेस्ट हो जाएगा ये जान के छोड़ा ये उनको उनको वो वो गलत था एग्जाम नहीं वो काम गलत नहीं था नॉट एम लो के बहुत क्रिमिनल वेस्ट हो रहा था ना और मुझे सारे मुल्क में मित्र पीछे पड़ गए थे कि आप क्या कर रहे हैं अस्पी जरूर ने बोला ये आप क्या कर रहे हैं हम्म। इस मजबूरी में यानी वो मुझे बुरा था इसलिए नहीं छोड़ा अच्छा और अब आश्रम जो बनाना चाहते हाँ। हैं तो मैं मुझे लगता है कि हिंद में आप भी बोलते हैं इसे भारत में आश्रम तो बहुत ही है उसमें एक ज्यादा हो जाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ऐसा आश्रम है ही तो नहीं हाँ, पहली वो तो सब ऐसा ही पहले बोलता है कि हमारा आश्रम अलग है मेरी विचार दृष्टि को समझोगी समझती हूँ हम्म। मगर इसके लिए ही ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि जरा मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सिखाते हैं आश्रम नहीं होना चाहिए ऐसा भी आप लेक्चर से मनुष्य को मनुष्य बना सकते हैं तो फिर आश्रम की क्या ना ना आश्रम का मतलब ही क्या होता है आश्रम का मतलब ही क्या होता है पहली तो बात ये कि आश्रम का मतलब केवल मेरी दृष्टि में इतना ही है कि एक केंद्र हो जहाँ लोग मेरे निकट ज्यादा देर तक रह सके लेक्चर में तुम तो मेरे पास घंटे भर होती और तब भी मेरा व्यक्तिगत तुमसे कोई संपर्क नहीं हो पाता अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगती है प्रीतिकर लगती है और तुम ज्यादा सानिध्य और ज्यादा निकटता चाहती हो तो कहीं तो कोई जगह होनी चाहिए जहाँ बैठ के मैं तुम्हें ज्यादा निकटता दे सकूँ अब मुल्क भर से सैकड़ों पत्र पहुंचते पहुंचते हैं हम आपके पास महीने भर रहना चाहते हैं हम दो महीने रहना चाहते हैं हम तीन महीने रहना चाहते हैं ताकि हम पूरी चीज को पूरी तरह से जीवन में उतार सकें अब मेरे पास कोई सुविधा नहीं कि मैं उनको कहाँ तीन महीने रखू तो आश्रम का मेरे लिए कोई और मतलब नहीं है आश्रम का जैसा अर्थ है इस तो मुल्क में वैसा कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए तो वो एक शिक्षण केंद्र होगा जहाँ कुछ लोग मेरे पास आके रह सकेंगे जा सकेंगे और परिपूर्णता से रह सकेंगे और उनके 24 घंटे की चर्या के बाबत में उनसे विचार कर सकूं और उनको सलाह दे सकूं उनकी भूल चूक को सुधार सकूं इस सारी दृष्टि है फिर जैसे और आश्रम है वैसा ही आश्रम होता तो मैं खुद भी राजी नहीं होता कि संख्या बढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं ये बहुत ही भिन्न होगा शायद उन आश्रमों के बिल्कुल विपरीत ही होगी इसकी पूरी चर्या पूरी जीवन दृष्टि और यहाँ से निर्मित जो व्यक्ति होगा वो जीवन विरोधी नहीं होगा वो सभी आश्रम जीवन विरोधी व्यक्ति निर्मित करते यहाँ से तो हम जीवन को कितने रस से और कितने आनंद से जी सकें इसकी कला सिखाने का मेरी मेरी दृष्टि और उन सारे आश्रमों की दृष्टि ये कि जीवन आसार है ये समझाया जा सके वो जीवन विरोधी है तो लाइफ निगेटिव है उनकी अप्रोच और अभी इस मुल्क में तो या इस मुल्क के बाहर भी जीवन को कैसे परिपूर्णता और आनंद से जिया जा सके इस बात के लिए कोई केंद्र नहीं यानी मुझे न तो सौंदर्य से विरोध है न स्त्री से विरोध है न प्रेम से विरोध है न संसार से विरोध है न दृष्टि से विरोध है तो अब तक जीवन के समर्थन में कोई भी आश्रम नहीं है पृथ्वी पर सब जीवन के विरोध में तो जो जीवन से निराश और दिनहीन लोग हैं और मृत्यु के करीब पहुंच गए उनका आयोजन है वहां और मैं तो युवकों के लिए सारी व्यवस्था करना चाहता हूँ कि वो जीवन को जीने के बाबत सोच इसलिए बात बिल्कुल भिन्न होने वाली है ठीक कहती हो तुम कि सभी यही कहते हैं कि बात भिन्न होने वाली है शांति निकेतन जैसा शांति निकेतन और तरह की बात थी शांति निकेतन की दृष्टि और ही थी शांति निकेतन की दृष्टि एक पूरे जीवन को परिवर्तन करने की नहीं थी बल्कि शिक्षा के मार्ग को ही पूरा परिवर्तित करने थी मेरा पूरे ही जीवन को परिवर्तित करने का विचार है उसमें शिक्षा एक हिस्सा होगी और रविन्द्रनाथ की नजर में शिक्षा ही सब कुछ थी वहां तो इतना बहुत बड़ा फर्क है और शिक्षा सब कुछ थी इसलिए मामला बिगड़ा क्योंकि आज नहीं शिक्षा गवर्नमेंट के हाथ में चली गई और जब यूनिवर्सिटी बड़ी होगी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी ये शिक्षा ही नहीं है सर इसमें खाना पीना कपड़ा शरीर सारे बाबत पूरे जीवन के बाबत शिक्षा उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है यानी मेरी दृष्टि में शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि वो पूरा का पूरा जीवन को घेर ले बल्कि मुझे तो यही लगता है कि एक आदमी अशिक्षित रह जाए तो हर जाने नहीं है अगर उसका और सब तरह से जीवन समृद्ध हो जाए तो अशिक्षित होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता तो मैं कोई उसके बहुत पक्ष में नहीं हूं सिर्फ इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग का मेरा कोई दृष्टि नहीं वो तो इसीलिए तो जब वो पूरा साफ होगा जब मैं बनाना खड़ा करूं तो पूरी बात साफ हो सकेगी वहां क्या हो सकता है वो कितना भिन्न है और और भिन्नता तो तुम्हें तब पता चलेगी जब सारे आश्रम उस आश्रम के विरोध में खड़े दिखाई पड़े तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उनमें से एक नहीं ये बिल्कुल भिन्न मामला है अभी मुझे भी लोग सोचते हैं कि मैं भी और साधुओं में से एक साधु हूँ लेकिन जब मेरे खिलाफ साधु खड़े होते जा रहे हैं तो पता चलने लगेगा कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ वो बात हम्म। है आश्रम से मुझे ठीक लगता है पूछना ठीक है ख्याल में आता है एक ही आ जाता है आया तो आप है तब अच्छा है मगर बाद में भी वही बात बाद के लिए तो चिंता नहीं करनी चाहिए इसलिए कि मेरा ख्याल ये है कि मेरे साथ ही सब चीजें तोड़ देनी तोड़ देनी उनको नहीं आगे ले जाना चाहिए मेरा ख्याल आदमी मरते उसी तरह संस्थाओं को भी मरना चाहिए नहीं तो संस्थाएं बहुत आपके निकट जो रहते हैं उस पर आपकी असर तो होगी आप बोलते हैं कि आप किसी की किसी के पर असर न होनी चाहिए हाँ, तो अगर इस बात को हाँ मेरे पास रहने का हाँ अगर ये बात सीखने में आ जाए उसकी कि किसी के भी असर से मुक्त होने की कला क्या है विद्या क्या है ताकि उसके भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो सके तो उपयोग हो गया और ये मेरा असर नहीं हुआ ये मेरा असर नहीं हुआ मेरे जैसा बन जाए वो मैं जैसा रहता हूं वैसा रहने लगे मैं जो कहता हूं वैसा कहने लगे तो मानना झूठा आदमी पैदा हो गया नहीं लेकिन जो उसके भीतर छिपा है वो उसे प्रकट करने के लिए जितनी हिंड्रेंसेज हो रही हैं उन सबको अलग कर दे उसमें एक हिंड्रेंस में भी हो सकता हूं वो उसको भी अलग कर दे तो उसके भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो सकेगा तो वहां आश्रम की ज्यादा से ज्यादा फिक्र पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा होगी कि हम जितने बाधाएं हैं जीवन की उनको अलग कर दें ताकि भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो जाए एक रास्ता ये होता है कि बाहर कोई है उसको हम कॉपी कर लें हम गांधी बन जाएं या फला बन जाएं वैसे बन जाएं वो मेरी दृष्टि नहीं है इसलिए मुझे कई मित्र कहते हैं कि मेरे साथ जो है वो मेरे जैसे होने चाहिए का ये तो सवाल ही नहीं है वो अपने जैसे होने चाहिए मेरी नकल में खड़े होने का कोई सवाल नहीं इस पर आपको बुद्धि से माना जाता है मगर मुझे लगता है कि आपके पास आएंगे तो उनके ऊपर असर होगी होगी नहीं होगी ऐसा कैसे हो सकता है और न तो हो इसके मेरे प्रयास होंगे कि मेरे प्रयास होंगे कि न हो और होगी तो ये उनकी भूल होगी अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ हाँ, अच्छी अच्छा। बात इसको मेरा पूरी किताबें तो थोड़ा हाँ, देखेगी हाँ, तो भी पढ़ाए सुनाएंगे उनको जरूर मीटिंग्स में आती रही नहीं आई कुंदन आई है हाँ भी आया इंग्लिश पुस्तक करने वाले भी आया कुंदन Thank you. अरे बैठ ठीक हो बैठ बैठ ठीक है थोड़ी सर्दी जुकाम की तकलीफ थी ठीक हो रही ठीक हो रही अभी आई नहीं आई नहीं हो रही हो रही जरा है अच्छा। हाँ, मैंने सोचा आप देख ले हाँ, दूसरा कुछ शुरू कर कुछ हाँ दूसरी कुछ शुरू कर नहीं वो हाँ दूसरी किताब गुजराती हाँ, ट्रांसलेशन के लिए अब बच्चे नहीं आएंगे जो करो तो बहुत ही अच्छा तो अच्छी होगी तो करेगी तो अच्छी होगी तो लेकिन आपकी अप्रूवल नहीं बस तेरे लिए अप्रूव किया उस किताब को क्या अप्रूव करना और अच्छे से एक दिन मुझे सुबह सुबह तू दिखाई पड़ी दादर पर मैं लौट रहा था उस दिन अहमदाबाद से बड़ोड़ा अहमदाबाद से लौट रहा था तो हाँ तो, दादरपुर की ट्रेन से उतर के गई लेकिन तो पीछे से दिखाई पड़ी दरवाजे से निकलती तो मैंने कहा आप तो बुलाने का कोई रास्ता नहीं रहा उससे आती क्या सुबह तू मैं जाती हूँ तो दादर उतर दादर वही मैं देखा एक जी कृष्ण मुझे रोहित मेहता है आकर्षण જે કૃષ્ણમૂર્તિના રોહિત મહેતા એ આ કર્યું છે હવે સમજા શું છે કે આપણે વાંચી જાઓ અને રજૂજી કહે છે કે આનો આન્સર કઈ ઢબે આપણે એને કંઈક રિપ્લાય આપવાનું છે તમે જરા સમજી લો એની हाँ સાથે ये उन्होंने कुछ लिखा है हाँ अ, रोहित मेहता मेहता के हाँ थियोसॉफिस्ट से उन्होंने कुछ लिखा है कृष्णमूर्ति और मेरी तुलना में तो एक तो यही बात गलत है कि तुलना की जाए और फिर उन्होंने जो कुछ मतलब निकाल लिया मेरे बातों का वो भी बड़ा खुजूर और अजीब सा निकाल लिया और कहीं के अप्रासंगिक वचन चुन के और उनमें से कुछ भी गोल मोल किया इसको थोड़ा देख जाओ इसको थोड़ा देख जाओ और तुम्हें लगे कि इसका कोई उत्तर लिखना जरूरी है तो इसका उत्तर लिखो तो ये अभी कृष्णमूर्ति इधर आते हैं तो उस वक्त ये दोनों पब्लिश करके उनके वर्गों में बांट देने का है ताकि उनके जो तीन हजार लोग हैं वो थोड़ा मुझसे परिचित हो सके और थोड़ा संपर्क उनसे पैदा हो सके तो उस ख्याल से इस ये एक जाएगा ये भी जाना जरूरी है तो ये भी एक जाएगा और उसके साथ ही तेरा एक लिखा हुआ देखो वो इसके ये दोनों इकट्ठे पब्लिश तो करके बांट देने की सिर्फ इस ख्याल से कि वो जो कृष्णमूर्ति को प्रेम करने वाले लोग हैं वो मुझसे थोड़ा परिचित हो सकते क्योंकि बात बहुत जोर से उनके भीतर चलनी शुरू हुई और उसका ये फल हुआ है हम्म, तो उसका ये फल हुआ देखने के बाद तो उसका ये फल हुआ है कि ये लोग डर गए मालूम होता है कुछ <coughs> तो उसके बचाव के लिए सारा मामला करते तो इसको जरा देख लेना और तुम्हें लगे हम्म। तो एक इसका आंसर लिखो और इसके साथ दोनों को छाप के बांध देने का है हाँ इसे देख लो और प्रयोजन केवल इतना है कि वो जो आप तो, आप तो गुजराती लेके मैं समझ तो लेता हूँ मैं समझ बोलने समझ लेता हूँ सब पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ थोड़ा देख तो तू देख के और इसको एक लिखना और प्रयोजन कुल इतना है कि उसमें जो उनका बड़ा वर्ग है उनके मित्रों का वो उस तक मेरा नाम तो पहुंचता है लेकिन मुझसे कोई परिचय नहीं बनता परिचित होना उस वर्ग का जरूरी है हाँ कुछ लोग धीरे धीरे जो लोग आए हैं वो तो परिचित होना शुरू हुए लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उन तक खबर भी पहुंचे सिर्फ મોટું કામ કરે શું છે આમાંથી શું થાય છે કે પરેક્સ અનનેસેસરી અનનેસેસરી અનનેસેસરી હે એટલે આ એક જ જો કદાચ પબ્લિશ થાય તો અનનેસેસરી વિરોધ એના કરતા બેવું થાય તો we are all moving the same channel આ રોહિત મહેતા બસ બસ કરીને बच्चू भाई वो छापने के लिए बच्चू भाई छापा लेकिन बच्चू भाई मुझसे परिचित थे तो बच्चू भाई ने कहा कि तो छापने काम को नहीं लगता वो अपने किशन सिंह चावल आपको दिखाया हुआ तो उन्होंने कहा बेवकूफी है इसको छापना मत तो उन्होंने इधर इनको दे दिया तो मैंने कहा इसको देखते और इसका अगर उत्तर बनता हो तो दोनों इकट्ठे छापो और दोनों इकट्ठे उनकी मीटिंग बैठती है उसमें बांट दो और उसमें दूसरा काम ये कि उसके पीछे सारे साहित्य की एक list Kishan Singh would be more appropriate person for this. कौन कौन किशन सिंह. કિશન સિંહ Yeah, ના એ પણ એનું શું છે કે એ પેલો અમુક વખત અહીંયા રહે છે ને અમુક વખત હિમાલય ને એવું ના રહે છે અત્યારે અહીંયા ना જ છે तू અને देख ચંદેરમાં नाम सवाल नहीं है अच्छा हाँ नाम देख नाम उसको तुझे लिखने का ख्याल में बने हाँ। तो एक लिख डाल उसका कोई सवाल नहीं कि नाम किसका जाता है उससे कोई फर्क नहीं समझे ना वो कह रहे थे आपके साथ काफी तरफ हाँ, हाँ। अहमदाबाद में मेरा भी तीनों के घर ही था मैं बड़ौदा अच्छा, अच्छा, अच्छा रजनी जी कल मुझे एक बात नहीं चली क्या गुलाब जी भाई ने जो कहा ना कि जो लोग कुछ खास रकम देंगे उनका नाम पर लिखा जाएगा उनके नाम से हॉल मिलने वाले हम्म, हम्म। तो जहाँ पर अहंकार का उन्मूलन ही सिखाना है उसकी नींव में ही ये अहंकार को दृढ़ करने की बात है उसकी नींव में हो जानी है वो मेरे ख्याल मतलब आपने कल जैसे कहा कि आप पैसे देंगे तो मैं धन्यवाद नहीं मानूंगा उसी तरह वो भी कहना चाहिए ताकि जो कोई कोई भी रकम देगा उसका नाम तो कहीं जाएगा ही नहीं क्योंकि ये नाम के लिए नहीं देना है बल्कि क्योंकि नाम लेना हो एक रूप से अहंकार को चलाना नाम मेरा बल है ना ये तो उनका बल इतना नहीं है मुश्किल है मेरे और मेरे साथ करने वाले काम करने वाले लोगों के बल में फर्क है तो उनका बल धीरे धीरे बढ़ाना है जरा ख्याल उनको दे क्योंकि वो एक सच्ची बात है शुरू करनी है तो बिल्कुल देख से ही उसमें कोई गलत बात ना आ जाए थी कोशिश की लेकिन दिखाई तो पड़ते ही नहीं हम देखते लोगों से पर हम फिर भी देख लेते हैं तू तो दिखी नहीं कहाँ कल तो मैं बहुत पास थी बिल्कुल अच्छा चार पाँच अच्छा। साइड में थी नहीं मुझे दिखाई नहीं तो पड़ी कुंदन को दूसरी देना हाँ, हाँ, और मैं मैं तेरी बात कहूँ कुंदन भाई को ठीक हो कोई भी ख्याल में आया तो बतानी चाहिए क्योंकि उसे बनाना है तो वो सब तरह के ख्याल अच्छी बात अब तो जबलपुर जाने आज जबलपुर जाता हूँ तो तू ये लिखते परमिशन है तेरे को बात करने तू देख ले उसको तेरे को लिखने जैसा लगे पहली बार तो हाँ लिखने जैसा हो तो लिख तो डाल हाँ, उसे लिख डाल और फिर वो परिचय के ख्याल से कि ताकि उनके मित्र भी परिचित हो सके हम उसे संपर्क साध सके बैठे बैठे बैठे बैठे बैठे अरे कहीं भी बैठिए नहीं है पहले इंग्लिश का और dean of faculty of arts और कई साल से वहाँ से और उनको आए इनका बहुत बड़ा कंपनी है उसका कब साल से मैंने और उन्होंने वहाँ इधर का जो हिंदी में गुजराती है फिर वहाँ नैनीताल है तो अफगान तो हिंदी और गुजराती और अंग्रेजी बहुत हिंदी बड़ा कल क्या हुआ सामने वो लेक्चर में दिखाने की बहुत दिलचस्पी थी और लड़की कुछ वो ये टिक्का अभी आजकल चलता है मैंने भी लिया मुझे भी टेम्परेचर आया टेम्परेचर होने के बाद फिर मैंने सुना कि आप आज जा रहे हैं कभी आने का मुझे नहीं होगा प्राप्त नहीं हुआ हमने की है और पुस्तक बारे में जैसे दो बात की तो संकलन करके एक गुजराती में और दूसरा मैं हम जो प्रधान से बोला था कि निरूप स्टेशन सबने निकाल और एक तो ऐसा आपकी जो चिंतन का उसका एक क्या करते हैं बात होगी तो हाँ क्योंकि वो ये तो तीनों उपयोगी है कि एक तो पूरी फिलोसफी पर एक इकट्ठा संकलन हो एक ही किताब पढ़ने से पूरी दृष्टि ढालना है और ये मधुकोष जैसा भी है और साथ ही सारी किताबों के धीरे धीरे अंग्रेजी में पूरे मुल्क में बड़ी मांग है वो अंग्रेजी में भी पहुंच सके कुछ अनुवाद तीनों तरह से अभी एक मित्र ने एक अनुवाद किया था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं पड़ा साधना पथ का एक अनुवाद किया दिल्ली से वो अच्छा नहीं हुआ एक तो वो कुछ जैसा ओरिएंटल जो स्कॉलर्स होते हैं वो उस ढंग का उल्लेख करते हैं जैसे पुरानी किताबों का अनुवाद करते हैं पुराण का और पुरानी उसका तो वो थोड़ी पुरानी ढंग की अंग्रेजी में बात करते हैं वो ठीक नहीं मालूम हुआ फिर कुछ उसमें बड़ी बुनियादी भूलें कर दी कई जगह वो उल्टा ही मतलब हो गया तो वो अनुवाद रोक ही दिया फिर उसको बिकने नहीं दिया लेकिन फिर भी वो कुछ जगह तो पहुंच ही गई वो किताब में वो आपको पहले दिखाई नहीं मुझे इतनी मुश्किल हो गई है देखने को इतनी फुर्सत नहीं मुझे मिल पाती है कि मैं दिन रात सफर में हूँ हाँ, हाँ मैं थोड़ा सा एक हिस्सा उन्होंने भेजा था कोई आठ दस पन्ने भेजे थे जाने के पहले वो हुआ क्या जरूरी है कि आप उसकी कोई मदद रहे आठ दस पन्ने उन्होंने मुझे भेजे थे शुरू के वो ठीक थे और वो मैं देख के उनको भेज दिया फिर पीछे क्या हुआ कि जिन्होंने आठ दस पन्ने किए थे वो सज्जन ने काम नहीं किया आगे तो उन्होंने किसी दूसरे से करवा लिया तो वो सब गड़बड़ हो गया लेकिन अब वो तो आपको कोई थोड़ा सा तो करें तो बड़ा अच्छा होगा कोशिश करूंगा एक किताब तो और मेरे पास खुद की है वो अभी चल रही है <laughs> एक प्रिंट में है इसको तो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट लेकिन इसको मैं जरूर आप देखेंगे सब सारे आपको पहुंचा देंगे हाँ देखेंगे और जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी की नजर डाल लें क्योंकि वो आपको आनंदपूर्ण मालूम पड़े तभी अनुवाद करने में मजा हो सकता है उनको पसंद आए तो मैं ये सोचता हूँ अनुवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुवाद जैसा लगे नहीं बिल्कुल ठीक है नहीं मजे चला गया तात्पर्य जो है उसका वो बराबर आ जाए हाँ, जैसा आप इंग्लिश में जो भी बोले तो जैसा आपका हाँ। ऐसा बहुत समय तक हमारा जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च जर्नल होता है तो मैं उधर रही करता मेरे पहले ये चंद्रशेखर थी डॉक्टर चंद्रशेखर का हेल्थ मिनिस्टर उनके पास तो मैंने ये दिया था बहुत समय तक करीब किया उसमें एक दफा तो हमने वो एक सिंपोजिम जैसा रखा था कि ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए ये सब बातें आई कि अगर ट्रांसलेशन ऐसा हो कि वो ट्रांसलेशन जैसा ही लगे सब नहीं हुआ करने वाले में कोई मजा नहीं आता और इसीलिए ऐसा भी इंतजाम करेंगे आपका जो जितना है यहाँ बहुत देर में कुछ देर आपको सुनाएंगे तो और आपका पीछे हाल ही में इधर आने का આ સંભળાય છે અને પછી જો સાહેબને લાગે કે કંઈક ઇન્ટરેસ્ટ જેવું છે તો तो आपने वो ऑक्सफोर्ड के जो फिलोसफी के वॉल्यूम्स बाहर आए हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वो जो मेरी पहले यूनिवर्सिटी थी मैं वहाँ पढ़ा था बाद में तो वहाँ से ये फिलोसफी के बारे में कुछ ऐसे छोटे वॉल्यूम्स बाहर आए हैं शायद आपने कौन से? देखा हो वो तो वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में तो उसमें एक्सपोजिशन जिसको जो आप कहते हैं फिलोसफी का एक्सपोजिशन तो ये क्या कहना चाहते हैं और उनके क्या नॉर्म्स हैं सच्चांत हैं वो तो जिस तरह वो करते हैं उसी ढंग से अगर कोई किया जाए तो फॉरेन कंट्रीज में भी वो संभव सुविधा हो सकती है उन लोगों को क्योंकि वो विश्लेषण ज़्यादा पसंद करते हैं ये जो विचार जो किया वो क्यों किया और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वगैरह वो आप जरा देख जाए एक बार और फिर इन दोनों तीनों तरह से सोचें कि कैसा हो सकता है और बड़ी जरूरत हो गई है और ડિમાન્ડ બહુ છે ઇંગ્લિશમાં ઇંગ્લિશ માટે અને એક જ ચોપડી છે એટલે અમારે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે કે એ એ ચોપડી આપીએ તો એનું કઈ આગળ વાત વધશે તો જો ડિમાન્ડ છે એ પ્રમાણે અમારી તો એવી કોશિશ રહી છે કે ડિમાન્ડને કેવી રીતે ફૂલફિલ કરી શકાય એ દ્રષ્ટિકોણથી બધી જગ્યાએ કામ કરે ને હા मुल्क के आप भी कुछ करिए आप आती रही कल भी सीधा करते सेवा मंडल में महिलाओं वाली मीटिंग में आपके बहुत से बोलने के वो हम लोगों ने सबको बहुत अच्छी लगी हम्म। उसी से हम कहते हैं कि जो किताब भी लिखी है उसकी जो सुंदर सुंदर ऐसे वाक्य कहते हैं कि जो पढ़ने वाले और थे बच्चे सबको अच्छे लगे वो किताब पढ़े तो फिर उसको पूरी पढ़ते ही छोड़ेगी इसको पूरी करनी ही चाहिए बहुत अच्छी लगे इधर भैया कॉलेज में इसके साथ सवेरे वाक्य भी लिखे हुए इतने लड़के हैं सब पढ़ पढ़ के ऊपर चढ़ कोई छोड़ नहीं रहा घेरा घेरे अभी कॉलेज की क्या कर रहा थोड़ा आप भी कुछ तो करिए हिंदी में कुछ लिखिए अब जैसे कल महिलाओं के बीच जो मैं बोला हूँ उस पर कुछ जैसे आप लेख लिखिए तो वो उपयोगी होगा हिंदी में वो यहाँ की कुछ अच्छी मैगजीन में भेजिए पुस्तकाकार के बीच से तो छप सकते छोटी पुस्तक शुरू कर सकते हुआ जरूरत नहीं किया गुजराती में करते हिंदी में थोड़ा फिक्र करिए चार बजे मेरे को चार बजे आ रहा आप चार बजे आते हूँ कभी भी आपको दो मिनट तो दो मिनट निकाल लेंगे वो तो हाँ, वो पर वो खाने वाने का सवाल रहता है तो आगे पीछे देता हूँ तो भोजन आप तो खाली रस लिया है ना एप्पल का पीछे खाने का कोई सवाल नहीं पहले खाने का अच्छा। तो मैं पूछता हूँ लेकिन कुछ खाया नहीं है तो। पूछ लो मैंने रस लिया है एप्पल का नहीं मैं वो लिया हाँ ऐसी बात है चिंता नहीं कांति भाई भेजो जल्दी आइए कांति भाई लेट हो गया हाँ मैं साढ़े आठ बजे आता आई रमेश ऑफिस में साढ़े नौ बजे हम जाते हैं के पहला पता लेंगे लेकिन उतनी में देर होगी और पीछे हीराबेन को कैरेट में जाने का था जो कैरेट छब्बीस जनवरी का होने वाली है तो जो रसिक है तो में काम करने अच्छा हाँ वो मुझे मिली पहले दूसरे से मिली इस बात नहीं दिखाई पड़ी मीटिंग में नहीं आ पाई हाँ, नहीं वो आई थी एक कल की अच्छा, मीटिंग में तो वो बार बार बोलती अच्छा, अच्छा। तो तो Thank you. Martin Committees for Children. कल का भी अच्छा थोड़ा मैंने ख्याल से पीछे का अच्छा नहीं दिया वो कलेक्शन का तो हम्म। व्यवस्थित नहीं दिया जो बिल्कुल नहीं रहा वो बोलना का था कि पीछे पीछे बैठोगे और बॉलिंग तो सुन गए तभी हो गया ऐसा होता है कि जो इसको झोल में डालने का हो तो हो जाता नहीं वो आपकी थोड़ी खड़ा रहता है में किसको डालने का हो तो वो पंद्रह बीस वाले के अंदर बैठने होने चाहिए जो जगह जगह खड़े हो जाए और लोग बैठे बैठे में डालने फिर लोग उठ जाए ऐसा ही बोल देना खुशी की बात में पकड़ पापा जी से सोचा था गुरु जी भाई पीछे आपके पीछे बोलेगा कि ये हो है वो बोल रहा था उन्होंने बोला पहले उन्होंने बोला था बोल जिस का ये लेकिन पीछे बोलने का जरूरत था वो उन्होंने ओमिट कर दिया वो अभी साल बोलने की जरूरत हाँ नहीं सर तो आपने सेम बराबर खड़ा कर दिया था हाँ, आपने कहा ना मैं आपसे अधिकार से मांग रहा हूँ और हाँ, आपसे प्रेम है इससे मांग रहा हूँ तो सब लोग ऐसा हाँ। अच्छा कुछ तो तो नहीं कर वो मिस हो गया नहीं पर वो सीखना चाहिए उसको टेम्पो खड़ा होता है उसका उपयोग नहीं करते वो तो विलीन हो जाता है उसमें तो बार बार ऐसा खड़ा ही नहीं हो सकता वो एक तो मतलब अच्छा बहुत अच्छा एटमोसफियर था लोग बहुत कल अच्छे लेकिन मेरे ख्याल से प्लानिंग बराबर नहीं हुआ पहले से प्लानिंग बिल्कुल नहीं था इनका कोई प्लानिंग नहीं मालूम पड़ा मुझे ऐसा खड़ा कर दिया कहीं तो वो कुछ इसको तो मतलब नहीं होता तो कोई मतलब नहीं खास ढंग से खड़े करने चाहिए अगर मान लो पंद्रह बहनों को खड़ा करना है तो उन्हें एक ढंग के कपड़े पहनाने चाहिए कि तो वो मालूम पड़े कि वो किसको देना है कौन झोली लिए है किसको देना है इसकी भीड़ भाड़ में कुछ मतलब ही नहीं होता है पहले से प्लान तो करना चाहिए और वो बैठे में हो जाना चाहिए वहीं हम्म। तो पे खड़ी कर देंगे पंद्रह बीस मिनट हाँ, कोई कठिनाई नहीं बहुत आसान हम्म। हाँ अभी ग्रास मैदान में तुम जब हैं तब इसकी ग्रास मैदान में क्या है अप्रैल में पूरी परीक्षा खत्म होगी और हाँ तो फिर हमारे घर पे <laughs> <laughs> हम्म, वो भी अधिकार की घोषणा कर देती तो क्या क्या <laughs> आप अकेले कर सकते हैं तो मार्च में नक्की किया है वो क्या निकालना है वो स्मृति निकालता है कोई उनका शिष्य मंडल का एक मासिक है मासिक का निकाल निकालते हैं तो, तो जो जो काका का परिचय आया है वो सबके पास से है तो उनका स्मरण है कुछ भी जो कुछ कब निकालेंगे मार्च मार्च में मार्च में मैं तुझे तो पत्र लिखा तेरे पास है टाइम्स वाले प्रतिनिधि आ गए और दस आदमी गए टाइम्स वालों को पहले मैं देखो ये लोग जो बैठे हैं उनको दस बजे कॉलेज जाने की <laughs> तो उनको फिर दो दो मिनट मैंने इनको जल्दी ना होगा गांधी भाई की बात तो तो पत्र के हो जाए तो तेरे पास पत्र लिखा था ना मुझे लिखा था मैं तो हाँ, से एक पत्र लिखा था वो पत्र पूरा दे दे उससे बढ़िया हाँ, हाँ, वो पहला पत्र हाँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो पूरा पत्र दे और कुछ नहीं करना उसकी कॉपी करके तो दे दे पूरा वो पूरा पत्र दे दे या तो कॉपी करके दे और ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि उसका पूरा ब्लॉग बना दे मेरे हैंडराइटिंग में पूरे बराबर सबसे बेटर उसका पूरा बना और मेरे हैंडराइटिंग में वो पूरा हो सकता है नहीं वो वो तुम तो दिखा देना और वो या तो लिख के डाल दो नहीं तो फिर पूरा ग्लास तो बना के दे देना अच्छा कि, कितने लोगों ने मेरे पास कॉपी मांगी थी मैंने बोला कॉपी दूंगी ये ओरिजिनल नहीं अच्छा। और दूसरा जो कल बात हुई तो बारे में हमारा बात किया तो है अभी बात तो आपके हाथ में बात करके वो हमारा कहने का ऐसा था कि स्कूल भी हम बताया कि कभी फिफ्टी परसेंट अपने कंप्लीट करेगा फिफ्टी परसेंट वेट करेगा तो उनका क्या रहता है कोई भी काम शुरू करे तो उसका बैलेंस फिफ्टी परसेंट वेट जो रहना चाहिए किसी काम में है पूरा हाँ। ठीक है तो कोई काम में मुश्किल होना नहीं तो ये नहीं समझा उनकी रोजगारी कोशिश इतना बोझ रखना चाहिए <laughs> हर को उनको इतना ठीक है उसमें कोई कठिनाई नहीं क्योंकि वो दुर्लभ जी भाई आप सब तो बोझ बराबर ही उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो ये ना वो कोई दूसरा हो तो कोई बोझ का फर्क पड़ता है हाँ, नहीं तो और तो भी बात नहीं तो वो तो बोझ का फर्क नहीं पड़ता वो तो हाँ। दुल्हन भाई पर रखिए कि आप रखिए <laughs> हाँ, क्योंकि वो कोई अलग अलग होने की बात होती तो कोई बात वो तो ठीक है आप समझा लीजिए और वो तो होता है तो और मोबाइल को क्योंकि वो तो नहीं बीच में सेंट्रल उनके लिए नहीं और एक अच्छे किसी आर्टिस्ट को उनकी स्टैचू बनाने की व्यवस्था करें कि बढ़िया स्टैचू उनकी बन जाए वो सेंट्रल में रहे वो तो नहीं अच्छी बात है जाएगी हाँ? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छी बात अच्छी बात कल किसी ने मुझे बोला शायद मैंने कई टेस्ट करवाने में फिर इक्कीस बैठो एक मिनट बैठो इक्कीस को करवाने में थे बैठो बैठो बैठो हाँ, दे तो पहुंचने के लिए तेरा ध्यान जरूरी है और हम्म? ध्यान ध्यान से शुरू करना जरूरी है बस ध्यान से शुरू करना तो ध्यान कैसे करना वो तो तुम जब किसी शिविर में आ जाओ तीन दिन के लिए जहाँ मैं ध्यान ही सिखाता हूँ तीन दिन तक वो तो किधर शिविर अभी आजोल में शिविर है अहमदाबाद के पास हम्म? तो तो तीन दिन की आजोल आ जाओ या इंदौर में शिविर है इसके बाद वहाँ आ जाओ तो तीन दिन में तुम्हें फिर पूरी प्रक्रिया मेरे साथ करोगे तो ख्याल में अच्छा। हम्म? बिल्कुल आ जाए बिल्कुल आ जाए હું તમને આપું ડિટેલ મારી हमारे मित्र दोनों और उनकी पत्नी अशोक भाई अमूल चंद्र नेमजी भाई गांधी देवी बैठिए ना ऊपर बैठिए हम्म, ठीक है हम्म, बैठिए बैठिए ठीक ये जब जानना है तो नीचे रह के ठीक रहेगा हम्म, ठीक सर इतना कम होना था आपका कि सबको ऐसा लगता है कि क्या जानना क्या नहीं जानना कितना जान लिया है पता नहीं लगता आप आते ही कम समय कम लेके किसी और की गलती नहीं है हाँ ये बात गलती तो मेरी सबको भी आपको साथ देना ही देना गलती नहीं सुलझन हो गई थी उनकी के परसों जो आपने जो कहा था ना कि कर्म नहीं है कर्म के जो एक आदमी जो खून में गिरा था उसके जो आपने जो मिसाल हम्म, हम्म। मिसाल जो दी थी ना उसके जो हमको कुछ सूचन हो गई नहीं मेरे को पूछना था कि आपने वो हिंदी समझ तो आप इंग्लिश में भी दो तो हिंदी जानते नहीं हो I was born at Gadarwara, How many brothers do you have? Brothers, Six brothers. And four Are they elders? Elders. Four sisters. What was your father doing? He's uh, a glass merchant. Glass merchant. Son. So did you go to school after that? After what what age You that is? In the MA, MA. Advanced interest in which university? I have to. is an MA. Which university? Sakari. Your MA is not. What subject? Philosophy. Philosophy. Indian philosophy. I think MA covers both Eastern and Western philosophies of mm When did you feel this call for things spiritual? At what age? Or while after your MA? Hmm. It has been always with me. I cannot remember when it came. It has been with me uh, the sister of his, she told us that hotel that she was speaking, that she of the and the parents themselves were very much wonderful yeah. that our So right up to MA, you were with your parents and all that. And then you felt like renouncing the world. I have no, not renounced. No, you are not renounced. I am against any renunciation. like to put in the word. When you say renounce the word, it pertains to sannyasi. Hmm. What do you call the sannyasi from that aspect? Need not be. Like our Vinoba Bhavi, he has renounced no, the word, no. but he has got nothing, penniless. Gandhiji. May not be sannyasi. I know, but Gandhiji was not. He, he stays with his family. He doesn't believe in uh, renouncing the world. That's what he was my attitude is life affirmative. Hermit is it? Hermit. No, no, no. Life, life no. affirmative. Affirmative. Affirmative. affirmative. How do you explain? How do you explain this statement when I say affirmative? Hmm. Religion as such has been life negative, renunciation of life, condemnation of life, meaninglessness of life, and seeking a goal beyond. Religion as such has been life negative. Life negative. Condemning life and seeking a goal beyond. Is there a goal beyond? No. Life itself is the goal. There is no beyond. So to live completely and totally yeah. to my mind is to be religious. life is God. And to know the secrets of living. is the path towards towards realization. What is it realization? since there is no life beyond, or to, to realize the life, to know it totally, integratedly. But when we die, what happens? No one dies. No death? No death. Death is a myth, totally illusory. man still dies, isn't it? Everything life, life changes its form. Do you believe that everything in life comes to an end? No. There is no beginning and no end. Everything is. But life changes its forms, takes new transformations. transformations. The phenomena of change creates the illusion of death. Phenomenon of change. Change. Change. change. Creates the illusion of death. Whether it is illusion or not, we do come to an end in life. Everything must end a tree after some time dies, an animal dies, a bird dies, so does a human being. Because biologically they, they must come to an end. A tree dies, but that is not a knowledge from within the tree. But there is life in trees. There is life in trees. There is life in everything. To others it appears like death. You have seen death in others, not in yourself. No one has encountered death in himself. encounters death in himself. It is always the other dies. The living principle, the life changes its form. It looks to others. Something has died. Nothing can die. Everything is. Do you mean to say, in this, in other words, what is inside is doesn't die. The body dies. Accept this. The form changes. The body dies. You accept this. Human body. The form. The form. The form changes. What you call the inside, we call it soul. <laughs> What you call it? You can call atma. it soul. soul. You yeah. can call it soul. In Indian term is atma. In Indian philosophy, soul is atma. Is there a chance after this for this body who's dead to again reunite with the Atma? There is no chance. because nothing is repeated. Everything is constantly new and fresh. Now you have said in that small pamphlet that religion or spiritual life needs rejuvenation. What do you mean by rejuvenation? Is something gone wrong with our religion in India? Everything is wrong. Now our spiritual life in India. You understanding. Hmm. Everything is wrong with the religion. <laughs> but how many religions are there now? If you say religion, oh, oh some, some has got Buddhism and I think general religion as such. Huh? Spiritual understanding, religion. Everything, because I'm taking a word after couple in I don't contradict. Yes. Spiritual understanding. Everything understanding. is wrong in, in what you say? In religious understanding. In India? Yes. In every, everywhere. No, we can't generalize about others abroad. There is no question abroad or others. Religion as it exists all over the world. Which, which is that religion that exists all over the world? There is no, question of Buddhism, Hinduism, Christianity or Islam. religion as such, as organized, as church, as dogma, Christianity or Islam. But religion as such, as organized, as a church, as a dogma, is wrong. As organized. In church, is it? As a church. As a church. As a dogma is wrong. Because to me, religion is absolutely individual. Because there will be replies to this what I write. Mm-hmm. I have got to take it properly. Mm-hmm. Whether from ah, here yes, or abroad, mm-hmm. the paper will get replies. in will have to answer them. Mm-hmm. Yes. The letters will show whatever his statements he uh, That's what goes in print. That's what he wants. I, have also taken them, uh, No, no, I need not. I take my own yes, absolutely individual. You are saying you are not at fault. My thing, the paper <laughs> goes all over. Yes. Because to me, religion is absolutely absolutely individual. There cannot be any organization of religion. The movement cannot be an organized religion in it. No organized, organized, organized, organized religion. No organized. The movement. Just a minute. There cannot be an organized. The moment it is organized, it goes wrong. That's what I mean by going wrong. It becomes politics. Politics <laughs> politics. So these names, Islam, Hindu, Christianity, Jain, both these names, these sects are not religious, they are all political. Religion, religion cannot be many, As science cannot be. Only one. Only one. Because truth is one and universal. True because the truth is one and universal. In other words, truth is same in every religion. The forms of attaining truth or the ways are different. To me, religions are ways. No. No. then religion. truth is realized. No, what is then religion? And truth is realized. Truth is realized. Truth is realized hmm. not by many ways. There is only one way. Uh, that is meditation. That is attaining thoughtlessness but and that awareness. doesn't mean to say religion does not teach you meditation. There is meditation there. There is fasting there. There is self-sacrifice involved. Otherwise, religion and spirituality is one and the same thing. Without you mortifying yourself or you cleaning the wrong done, how is it possible? You cannot clean because the wrong done. But man does wrong. Man does wrong. And he cannot be condemned since he is created by God. Are we creations of God or there is no God? No difference between there is God the there is creator no. and the creation. That I know. But there are we no creators? If there is no difference, then we belong to the creator who created us. Do you believe in this? No, no, no. No one creates. No, we are not created. We are not created. There is no creator. Then there is no God. Apart and beyond the creation. No, no, no. I'm coming to the point. This is the main thing. Point is, are we created by somebody? Is there no, God? No. There is no God. No. There is no such God as creator. There can't be any other significance. The whole created, there is no God. The whole creativity to me, God means the whole creativity. The creativity, creativity. I'm not talking of creativity, I'm talking of the creation. There is no creation, no creator. There is only ah, creativity. There is that is that. There is no creation and no creator. Only creativity. Uh, creator. Creativity. Thank you very much. No, no, but this point you would like to. No, I won't like it. I am satisfied with integrity. अब मेरी एक किताब दे दो तो थोड़ा ख्याल होगा वो guard Because I came with certain questions to ask and he satisfied me. I do not explanation. तो वो जरा पुस्तक दे दे तो आप थोड़ा देखने उनको I've got uh, yeah, this small thing. around. नहीं एक पुस्तक बुक्स भी दे दो। Self-realization. No, no, that I don't know. Because I'm not writing a three, I am writing on him थोड़ा सा ख्याल होगा वो तो वो तो we don't read these books are for follow we journalist come to come in no no no I don't want to be I want to be oh, <laughs> familiar with him. Because in my profession I meet so many people. I met Pope also. What he said I wrote. I met him, what he says I write. I give his views to the people. Yes, he goes to preach in a lecture. You know, yes. you don't give his book to the uh, people who come no, there. But this is not a they book. This is only one I know. He, I come to hear him. <laughs> I heard him. Expanding on that truth you don't want to know. <laughs> That uh, everybody, like there are books of philosophy on every religion, you can't take the reader to read that. It is up to me. If I meet Buddha, I like to meet Buddha and tell people what is Buddha. I met him, the people must know what he has to, what message. This is his message. So I have come for his message. <laughs> Got it? Would you like to say anything for the No. it's all. Thank you very much. और मीरा जी ये बात come to collect your blood अच्छी बात है तो मुझे लेटना पड़ेगी ले लेको उनको जरा फोन देखो आपके पास है भी नहीं ऐसा हमारा क्या करना पड़ेगा वो हाथ देख सकता हूँ हाँ हाँ कोई भी जगह से आप जाओगे क्या नहीं इस तरफ नहीं मैं बता दूंगा इस तरफ नहीं नहीं कोई बात मुठ्ठी जरा बंद कर for the एक जरा सुई लगेगी हाँ?